जैसा कि सभी डिटेक्टिव यहाँ पर ऑफिस से सीधे चले आए थे तो कोई भी डिनर के लिए स्पेशल तैयार होकर नहीं आया था यहाँ तक कि कुछ लोग तो पुलिस यूनिफॉर्म में ही यहाँ पहुंच गए थे खुद नैना ने भी कोई तैयारी नहीं की थी वो भी फॉर्मल ड्रेस में यहाँ आई हुई थी उसने भूरे रंग की शर्ट पहन रखी थी और ब्लैक कलर के जीन्स के साथ ही ब्लैक कलर का शूज भी पहन रखा था लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मार्ट नैना ही नजर आ रही थी सही मायने में वो यहाँ पर अट्रैक्शन का केंद्र बनी हुई थी एक तो वो खुद इतनी खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से उसने इतने महंगे होटल में सबको पार्टी दे रखी थी विक्रांत आज थोड़ा शांत शांत सा बैठा हुआ था उसके सामने टेबल पर खाने की ऐसी ऐसी डिशेज रखी हुई थी जिसका नाम भी उसे पता नहीं था फिर भी वो उसे खाया जा रहा था इस बात को लेकर वो थोड़ा असहज सा हो रहा था अपने सामने रखी वाइन की बोतल का वो नाम तक नहीं पढ़ पा रहा था इतने हाई फाई ब्रांड का उसने कभी नाम भी नहीं सुना था और आज जब उसे ये सब पीने का मौका मिल रहा है तो वो भी उसके पैसों से जिसको विक्रांत अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा है विक्रांत के मन में ये भावना आने लग गई थी ये उसके और नैना के बीच बहुत गैप है भले ही विक्रांत बोलने में बहुत एक्सपर्ट है केस सॉल्व करने में एक्सपर्ट है उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी है लेकिन नैना उससे कई गुना ज्यादा अमीर है उसके फाइनेंशियल स्टेटस विक्रांत की तुलना में बहुत हाई है जब से विक्रांत नैना के साथ है तब से उसे यही लगता रहा है कि नैना और उसकी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी सब कुछ बिल्कुल सही रहेगा लेकिन आज की इस डिनर पार्टी के बाद विक्रांत को बहुत बड़ा झटका लगा आज उसे नैना में एक क्लास दिखा जिसे वो शायद ही कभी मैच कर पाएगा नैना और विक्रांत के बीच ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस का गैप था बल्कि उसके रहन सहन में भी जमीन आसमान का अंतर था नैना फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है जबकि विक्रांत सिर्फ हाय और हाउ आर यू के बाद ही अटक जाता है उसका रहन सहन देख कर लगता है कि बचपन से ही वो बहुत अच्छे घर में पली और बड़ी हुई है जबकि विक्रांत ने तो बचपन से ही गरीबी देखी है बड़े और अमीर लोगों की सोसाइटी में बैठकर कैसे खाना है कैसे बात करना है विक्रांत को कुछ ढंग नहीं पता था जबकि नैना इन सब चीजों में एक्सपर्ट थी उसकी तो सोसाइटी ही ऐसी थी विक्रांत इस बारे में सोच सोचकर काफी नर्वस हुआ जा रहा था आज वो डाइनिंग टेबल में सबके बीच बैठा तो हुआ था लेकिन किसी को आभास नहीं हो रहा था कि विक्रांत सक्सेना भी यहाँ पर बैठा हुआ है वरना विक्रांत हर जगह अपनी हरकतों से सबका ध्यान खींच लिया करता था विक्रांत क्या हुआ तुम्हें रोनित बनर्जी ने तुम्हारे ऊपर भी एनेस्थीसिया का पाउडर फेंक दिया था क्या नैना ने विक्रांत को बुलाते हुए कहा इतना शांत शांत क्यों बैठे हो कुछ हुआ क्या विक्रांत ने नैना की तरफ एक नजर देखा लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया लेकिन तभी अचानक से राघव बोल पड़ा अरे विक्रांत भाई चेयर से है राघव ने अपने वाइन का ग्लास उठाते हुए कहा उसके साथ ही नैना ने भी अपना ग्लास उठाया और फिर विक्रांत ने भी अपना गिलास ऊपर कर दिया एक घूंट में ही वो सारी वाइन अंदर घटक गया वैसे ईमानदारी से कहें भले ही ये शराब बहुत महंगी थी लेकिन विक्रांत को ये बियर से भी हल्की लगी किसी दूसरे के पैसे से इतना हाई फाई ब्रांड का शराब पीना विक्रांत को थोड़ा अजीब लग रहा था उधर बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स तो जैसे शराब पर टूट पड़े थे अपने दो senior Naina madam Vikrant sir को पीता देख इन लोगों का भी हौसला बढ़ गया था नैना ने भी अनलिमिटेड खाने और पीने का इंतजाम कर रखा था वाइन के चार पांच पैग अंदर जाते ही सारे इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ के माहौल में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करने लगे थोड़ी देर पहले जहां ये लोग अमीर लोगों की तरह दिखने की एक्टिंग कर रहे थे वहीं अब इन्होंने इस डाइनिंग हॉल को मछली बाजार बना डाला था कोई चेयर पर बैठकर ही पी रहा था तो कोई डाइनिंग टेबल पर ही चढ़कर बैठ गया कुछ तो इतने धुत हो चुके थे कि वो जमीन पर ही ग्रुप बनाकर बैठ गए और ठहाके मारकर गप्पे लड़ाए जा रहे थे यहाँ तक कि वहाँ खड़े फॉरेनर वेटर ने भी आज तक ऐसा कस्टमर नहीं देखा था इन लोगों को देखकर उनकी भी हंसी नहीं रुक रही थी चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था लेकिन विक्रांत अभी भी यहाँ काफी असहज महसूस कर रहा था उसने ज्यादा ड्रिंक भी नहीं किया क्योंकि उसे इस वक्त नैना की चिंता थी नैना को घर जाना था तो अगर उसने ज्यादा ड्रिंक कर लिया तो फिर उसे घर पहुंचाने में भी प्रॉब्लम होगी वो बस सबको एंजॉय करते हुए चुपचाप देख रहा था इसी बीच विक्रांत ने एक और चीज नोटिस की नैना ने अभी तक यहाँ का बिल पे करने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया था ना तो उसने कोई क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड और ना ही कैश पेमेंट किया था ऐसा लग रहा था कि नैना को यहाँ पर कोई बिल नहीं पे करना था उसके यहाँ का खाना बिल्कुल फ्री था इस बात ने तो विक्रांत की चिंता और बढ़ा दी अब उसे ये लगने लगा कि जब इतने बड़े होटल में नैना को बिल नहीं पे करना पड़ रहा है तो इसका मतलब उसकी यहाँ पर किसी से अच्छे खासी जान पहचान होगी इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है जबकि मेरा दोस्त कौन है वो टपोरी सरताज और उसका गैंग उसके कहने पर तो कोई रेडी वाला भी फ्री में खाने को नहीं देगा सच में नैना का लेवल बहुत हाई है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे अभी बहुत मेहनत करनी होगी नैना और मेरा सच में कोई मैच नहीं हो सकता है विक्रांत अकेले बैठा ठंडी आहें भर रहा था तभी उसके ठीक बगल में नैना आकर बैठ गई वो इस वक्त काफी खुश नजर आ रही थी उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान छाई हुई थी उसने विक्रांत के बगल में बैठते कहा क्या हुआ तुम्हें आज इतने गुमसुम क्यों हो कुछ बात फिर उसने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तुम आज कुछ पागलपंथी नहीं कर रहे मैं वेट कर रही हूँ कब तुम मुझसे बकवास करो और कब मैं तुम्हें गालियां सुनाऊ <laughs> हाँ मैंने तुम्हारी फोटो अपने फेसबुक पर पोस्ट कर दी है इसलिए थोड़ा टेंशन में हूँ विक्रांत अपने मजाकिया लहजे में बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन साफ लग रहा था कि वो कुछ परेशान है ओह अच्छी बात है नैना ने हंसते हुए कहा अच्छा जब तक मैं तुम्हें दिन में दो तीन बार गालियां नहीं दे लेती ना मुझे चैन नहीं आता लेकिन आज तुम मुझे कुछ मौका ही नहीं दे रहे इतना कहकर नैना ने अपने हाथ में लिया हुआ ड्रिंक अपने होठों से लगा लिया नैना तुमने आज बहुत ज्यादा पी ली है अब बस करो घर भी जाना है विक्रांत ने उसके हाथ से गिलास वापस लेते हुए कहा तुम तुम हो ना घर पहुंचाने के लिए <laughs> नैना ने फिर से विक्रांत के हाथ से गिलास वापस ले लिया और फिर फिर से एक सिप पीते हुए अपनी करली बालों को उठाकर बोल पड़ी विक्रांत मैं ये बाल ऐसे बांध लू क्या अच्छा लगेगा ना विक्रांत ने उसकी तरफ देखा नैना ने अपने कानों में विक्रांत का दिया हुआ इयर पहन रखा था वो अपने इसी इयर को दिखाने के लिए अपने बालों को ऊपर बांधने की बात कर रही थी विक्रांत तुरंत ही उसकी मंशा समझ गया इस वक्त नैना इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता था खासकर उसके कान में लटक रहे इयर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे विक्रांत के लिए खुद पे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था अगर यहाँ पर भीड़ भाड़ ना होती तो पक्का नैना को अपनी बाहों में भर लेता लेकिन अभी सबके सामने वो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता था तो उसने साधारण से शब्दों में जवाब दिया नहीं खुले ही रहने दो नैना ने विक्रांत की तरफ निराशा भरी नजरों से देखा और फिर अपने बाल वापस खोल दिए अब उसके इयर फिर से बालों के नीचे छुप गए नैना विक्रांत की तरफ देखते हुए कुछ बोलने को रही थी तभी अचानक से किसी ने आवाज लगा दी नैना मैडम ये वाली ड्रिंक खत्म हो गई एक मिनट आ गई नैना तुरंत ही वहां से उठकर चली गई जाते जाते वो विक्रांत को देखकर घुर जा रही थी पार्टी खत्म होते होते आधी रात हो चुकी थी अब तक तो सारे इन्वेस्टिगेटर्स पीकर धुत पड़े थे नैना ने भी आज काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी उसे जरा सा भी होश नहीं था सो विक्रांत उसे लेकर घर छोड़ने के लिए जा रहा था नैना को उसने गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया विक्रांत नैना की व्हाइट पजेरो लेकर उसे घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा पहले विक्रांत को लगा कि नैना का घर किसी पौश एरिया में होगा लेकिन वो जहाँ रहती थी वो बिल्कुल नॉर्मल सोसाइटी थी यहाँ पर कई सारे फ्लैट बने हुए थे एक एक फ्लैट की कीमत मुश्किल पच्चीस तीस लाख रुपए के बीच रहा होगा यहाँ यहाँ रुको नैना ने कहा और विक्रांत ने तुरंत ही गाड़ी में ब्रेक लगा दी तुम यहाँ रहते हो विक्रांत ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा हाँ वो उस बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पर अभी लाइट जलेगी उस रूम की तब तक बाय बाय करके यहाँ से जाना नैना ने सामने की एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा और हाँ गाड़ी तुम अपने घर ले जाओ कल मैं कैब से आ जाऊंगी रात हो गई है तुम्हें प्रॉब्लम होगी जाने में विक्रांत कुछ कहने जा रहा था तभी नैना बीच में ही बोल पड़ी है अच्छा घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना तुमने भी बहुत पी हुई है आराम से टाइप करना विक्रांत हम्म। फिर से कुछ कहने जा रहा था लेकिन तभी नैना बोल पड़ी क्या हुआ कुछ इधर उधर तो नहीं सोच रहे हो ना तुम मेरे नशे में होने का फायदा मत उठाना ऊपर मेरी आंटी और कजिन है शोर मचा दूंगी मैं <laughs> विक्रांत जोर से हंस पड़ा तो तो तुम मेरे घर चल लो <laughs> अच्छा छोड़ो मजाक कर रहा हूँ मैं जाओ तुम हम्म बाय नैना गाड़ी से बाहर निकली और फिर तुरंत वहां से चली गई कुछ देर बाद उसकी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर की लाइट जल उठी वहां खिड़की के पास नैना खड़ी थी उसने वहीं से विक्रांत को टाटा किया फिर कुछ ही देर में कमरे की लाइट ऑफ हो गई विक्रांत भी गाड़ी घुमाकर वहां से अपने घर के लिए चल पड़ा रास्ते में वो सोचने लगा कि अगर नैना मेरे घर पर आ गई होती तो ठीक रहता लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके घर पर तो माँ भी है वहाँ नैना आ जाती तो फिर तो बवाल ही मच जाता लेकिन मैं होटल भी तो ले सकता था ना मेरे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी ना है लेकिन नैना रेडी तो हो हम्म, विक्रांत ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया वैसे कुछ भी हो अब ये लड़की भी मुझ में इंटरेस्ट लेने लगी है तभी इसने मुझसे रिंग ले लिया था और आज कैसे मुझे अपना इयरिंग दिखा रही थी ना बस अब ये पता चल जाए कि ये मुझे प्यार करती है या नहीं अगर ये मुझसे प्यार करती है तो फिर मैं इसके और अपने बीच के गैप को भी नहीं रहने दूंगा मैं इतना पैसा कमाऊंगा इतना पैसा कमाऊंगा एक के एक दिन नैना से ज्यादा पैसा होगा मेरे पास कुछ भी हो नैना गिरवाल मैं तुम्हें पाके रहूंगा विक्रांत पूरे रास्ते सिर्फ नैना के बारे में ही सोचता रहा अब तक वो अपने घर के बाहर पहुंच चुका था